परम पिता परमात्मा का स्मरण प्रणव ध्वनि तो... स्वामी सज्जनों परमात्मा के गुणों को विस्तार से समझने के लिए परमात्मा के स्वरूप को अधिक अधिक अच्छी तरह समझने के लिए हम परमात्मा के विभिन्न संबोधनों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं पिछले दिनों जो संबोधन हमने विचार के लिए लिए उन संबोधनों में किन्हीं को कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं हाँ, पीछे एक संबोधन था हे राग विनाशक वहां दो शब्द हैं पाठभेद की दृष्टि से हे रोग विनाशक और हे राग विनाशक तो अभी हम हे राग विनाशक को स्वीकार करते हुए ये बात देख रहे हैं तो उस प्रसंग में मैंने एक बात रखी थी कि कोई व्यक्ति कितना भी भोग करे कितना भी भोग करे तो भी अंततः उसका भोग के प्रति विराग होगा ही व्यवस्था ही ऐसी बना रखी है परमात्मा ने कि राग अधिक लंबे समय तक नहीं बना रह सकता उधर से व्यक्ति विमुख होगा ही इस पर स्वामी जी का प्रश्न है कि शास्त्रों में ये कहा गया और प्रत्यक्ष भी हम ये देखते हैं कि जितना हम भोगते हैं उतना उसके प्रति राग आसक्ति बढ़ती जाती है हम और और भोगना चाहते हैं भोग को प्राप्त करना चाहते हैं दर्शन में भी कहा गया न भोगात राग शांति मुनिवत सांख्य दर्शन का सूत्र और भोग के साथ साथ उसके पीछे पीछे राग बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है ये शास्त्रों में वर्णन मिलता है और साथ में दूसरी दृष्टि से भी मिलता है कि भोग का अभ्यास करने से भोगते भोगते कभी भी वितृष्णा नहीं पैदा की जा सकती और मनुस्मृति में भी कहा हविषा कृष्णवर्त में भूय एवाभिवर्धते जैसे अग्नि में घृत को डाले तो अग्नि और भड़कती है और बढ़ जाती है ऐसे ही भोगों को भोगने से भोगों की कामना और बढ़ती जाती है <clears throat> ये सारे बातें जो प्रत्यक्ष में भी देखी जाती हैं जो भोगों में जाते हैं तो और उधर बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं कि अपनी जगह पर ठीक होते हुए भी इसका एक पक्ष और साथ में है जिसको कि राग विनाशक इस संबोधन से हम ग्रहण कर सकते हैं और ग्रहण करना चाहिए आपने साथ में एक बात और कही जो कि उस आपका उत्तर ही है कि बिना योगाभ्यास के विषयों का राग समाप्त नहीं किया जा सकता और बिना विचारे बिना चिंतन किए राग समाप्त नहीं किया जा सकता यदि बिना विचारे बिना समझे व्यक्ति भोगों में पड़ा रहे तो वहां से नहीं निकल सकता इसी में इसका उत्तर छुपा हुआ है अर्थात आप भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि यदि भोगों को भोगते समय विचार किया जाए उसका परीक्षण किया जाए और अपनी चाह को देखा जाए कि क्या मैं ऐसे ही सुख को चाहता हूं क्या ऐसे ही छोटे क्षणिक और दुख मिश्रित सुख को चाहता हूं तो उसे वित्रष्णा होती है परमात्मा राग का विनाशक कैसे है कि हम भोगते रहें और हमारे मन में उन वस्तुओं के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाए बिना कुछ किए ऐसा नहीं परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि भोगों को भोगते भोगते विचार उत्पन्न होगा ऐसी बुद्धि दी है और ऐसी इंद्रियां दी ठोकर खाते खाते समझ बनेगी ही कोई एक बार के ठोकर में सीख जाए चाहे सौ बार या हजार बार की या और संख्या बढ़ा लीजिए अथवा दूसरों को ठोकर खाता देख करके भी कोई सीख सकता है बिना ठोकर खाए भी इन ऋषियों ने ये बात रखी न भोगात राग शांति अथवा भोगाभ्यासम अनु विवर्धनते रागा इत्यादि उपभोगों में जाकर के निष्कर्ष निकला या भोगों को में न गए हुए ही ये निष्कर्ष निकल गया है वो प्राचीन ऋषि वो भी आत्मा थे वो भी मनुष्य थे उन्होंने भी इन सब भोगों को भोगा है ये जो शास्त्र अध्यात्म का हमें प्राप्त है वो वेद के माध्यम से भी प्राप्त है और उसका उन लोगों ने अनुभव भी किया है और अनुभव के बाद में अपने शब्दों में उन बातों को रखा है सबके कुछ अलग अलग दृष्टि से अनुभव हो सकते हैं अलग अलग प्रकार से अलग अलग घटनाओं से लेकिन एक निष्कर्ष पर पहुंचे वो वो समान निष्कर्ष था उसमें उनका अनुभव भी जुड़ा हुआ है वो मात्र वेद से लिया हुआ ज्ञान जो का तो नहीं है कि वेद में कहा है इसलिए उन्होंने ऐसा लिख दिया है उसको उन्होंने जाना जीवन में भी देखा उसमें तालमेल लगा दोनों में सामंजस्य लगा और उन्होंने उसको अपने ग्रंथों में सूत्रों में वर्णित किया अर्थात उनका प्रत्यक्ष उसके साथ जुड़ा हुआ है प्रत्यक्ष जुड़ा हुआ है इससे ये भी बात समझ में आती है कि भोगों को तो उन्होंने भी भोगा है उन आत्माओं के मन में भी कभी भोग ही पूर्ण लक्ष्य अंतिम लक्ष्य बने हुए थे क्योंकि इंद्रियां प्राथमिक रूप से ऐसा ही ज्ञान कराती हैं कि ये सुखदायी हैं और यही लक्ष्य है प्रारंभिक रूप से हर आत्मा को यही लगेगा ज्ञान इंद्रियों तक सीमित रहे बुद्धि मन का उपयोग न करे तो पूर्ण उपयोग न करे तो लेकिन परमात्मा ने बुद्धि ऐसी दी है इंद्रियां भी ऐसी दी हैं कि भोगों के साथ में आने वाले दुख का ज्ञान भी हमें होता है ज्ञान की व्यवस्था परमात्मा ने की है जहां सुख का ज्ञान होता है वहां दुख का ज्ञान भी होता है सूचनाएं दोनों के पास जा रही हैं भोगी व्यक्ति में भी और योगी व्यक्ति में भी भोगी व्यक्ति उन दुखों को ध्यान नहीं देता वो सुख पे ही केंद्रित रहते हैं वो अपनी बुद्धि का उपयोग भोगों के परिणाम में आने वाले दुखों तक नहीं करता नहीं ले जाता वो तात्कालिक सीमित ही रखता है बुद्धि का उपयोग नहीं करता और दूसरे जब कर लेते हैं तो निष्कर्ष निकाल लेते हैं तो सांसारिक सुखों में पूर्ण तृप्ति नहीं है उसको भोगने से वित्रृष्णा पूर्ण तृप्ति नहीं आ सकती ये बोध भी भोग में रहते हुए ही होता है ये ये भी हमें साथ में समझना होगा कि भोगाभ्यास से जैसे भोग के प्रति राग बढ़ता है ऐसे भोगाभ्यास से भोग से विराग भी होता है कारण वही है जो उत्तर आपने स्वयं ने दे दिया था विचार नहीं करे तो वहीं फंसा रहेगा और विचार करे तो इधर आ जाएगा क्या यह संभव है कि कोई मनुष्य कभी भी विचार ना करे विचार की व्यवस्था परमात्मा ने की है और मनुष्य मनन करेगा ही आज नहीं कल करेगा परिस्थितियां परिस्थितियां उसको विचारने पर विवश करेंगी करती इस दृष्टि से इस भोगाभ्यास से ही ये निष्कर्ष भी हम निकालते हैं और उससे अलग हो जाते हैं और जिस भोगाभ्यास को हम कहते हैं भोगाभ्यास के बाद में और राग बढ़ता जाता है अर्थात छोटा सुख भोगा तो अब उससे और बड़ा सुख चाहिए राग यही तो बड़ा है इतना स्वादिष्ट भोजन है अब उससे और स्वादिष्ट चाहिए इतना बड़ा मकान है अब और बड़ा मकान चाहिए और सुंदर मकान चाहिए इस प्रक्रिया में भी जो पिछली वाली चीज थी जिसके प्रति पहले राग था वो राग समाप्त हुआ या नहीं उसको उसने छोड़ा या नहीं सुख के प्रति राग तो है सुख तो वो चाहता है लेकिन जिस साधन के प्रति उसको राग था उसको छोड़ देता है विराग हो जाता है इच्छा भी नहीं करता उसकी उससे बड़े की इच्छा करता है उपनिषदकारों ने भी इस बात को लिखा यो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम हस्ती जो भूमा है जो बड़ा है जो महान है उसी में सुख है अल्प में सुख नहीं है एक स्थिति में अल्प में भी सुख दिखाई देता है बहुत अच्छा लगता है जैसे किसी को प्रारंभिक नौकरी मिल जाए बेरोजगार था छोटी सी नौकरी मिले तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन कुछ समय बाद में नहीं फिर उसको और वेतन चाहिए और ऊंची प्रगति करना चाहता है ऐसे ही सुखों के बारे में भी इतना भी अच्छा भौतिक सुख प्राप्त कर लें कुछ दिनों बाद में उसके प्रति अरुचि होती है वित्रृष्णा हो जाती है वो उतना आकर्षक नहीं रहता ये किसकी व्यवस्था है इतना भी भोग भोग ले जिसमें आप कह रहे हैं भोगाभ्यास मनो वर्धनते विवर्धनते रागा राग बढ़ते जाते हैं वो ठीक है वो राग ऊपर के लिए बढ़ रहे हैं और जो पीछे वाली चीज थी जिसमें अब तक राग था उसके प्रति क्या हो रहा है के प्रति उपेक्षा उसके प्रति अरुचि हो रही है या नहीं हर जगह हो रही है तो उसने और बड़ा सुख प्राप्त कर लिया अब कुछ दिनों बाद में उन सुख और सुख साधनों से भी वितृष्णा होने लगेगी कुछ और बड़ा चाहिए फिर और बड़ा चाहिए और बड़ा चाहिए इस प्रक्रिया में जब मनुष्य ये समझ ले जितनी शीघ्रता से समझ ले कि जैसे इस सुख में कुछ दिनों बाद में वित्रष्णा हो गई अब इससे आगे वाले की मेरी इच्छा थी वहां गया वहां भी फिर वैसा ही हो गया दो बार तीन बार दस बार बीस बार पचास बार सौ बार हजार बार और ऊपर और बड़ा और बड़ा करता जाएगा अब ये व्यक्ति पर निर्भर करता है वो कब अपनी बुद्धि का ठीक उपयोग कर ले और निर्णय निकाल ले कि इस श्रृंखला में चलते चले जाएंगे तो यहां भौतिक साधनों से पूर्ण तृप्ति कभी नहीं हो सकती जो आत्मा जो मनुष्य जब भी निर्णय निकाल लेगा निकलेगा वहीं उस भोगाभ्यास में विराग होगा उसको विवेक होगा उसको जो भी जागरूकता से देख रहा है अनुभव कर रहा है सुख और दुख दोनों को देख रहा है उस वास्तविकता को देख रहा है अंदर से सचेत है मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इसको ध्यान रख रहा है उसको बोध होगा और वो वैराग्य में जाएगा राग उसका समाप्त होगा और मनुष्य कितना भी मूर्ख हो कितना भी अल्पमति हो कुछ भी हो कभी ना कभी उसके मन में ये ज्ञान आएगा आएगा अवश्य आएगा तब हम ये कहते हैं कि हर आत्मा मुक्ति में जा सकता है जाएगा यदि उसके साथ ये शर्त जोड़ दें कि यदि योगाभ्यास करे चिंतन करे ठीक है लेकिन बोले ये तो विचार चिंतन कभी करते ही नहीं है कभी करेंगे ही नहीं कभी योगाभ्यास करेंगे ही नहीं तो ये कभी भी मुक्ति में नहीं जा सकते क्या आप किसी आत्मा के लिए किसी मनुष्य के लिए कह सकते हैं ये कभी भी विचार नहीं करेगा ये कभी भी योगाभ्यास नहीं करेगा इसकी अविद्या कभी नष्ट नहीं होगी ऐसा किसी भी एक के लिए कह सकते हैं जब ये सिद्धांत हम स्वीकार करते हैं हर आत्मा मुक्ति में जा सकता है मतलब है उसको कभी ना कभी विवेक होगा कभी ना कभी राग से रहित वो होगा एक मन में कहीं आशंका हो कि कोई बिल्कुल भी नहीं सोचता है तो कभी भी नहीं जाएगा वो तो ऐसे ही चलता रहेगा क्या ये कह सकते हैं वो अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहेगा क्या हम कभी पिछले जन्मों में इसी तरह भोगों में आसक्त नहीं रहे होंगे जैसे आज हमें दूसरे दिखाई देते हैं कि उन्होंने उन्हें सांसारिक भोगों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है दूसरी बात समझ में ही नहीं आती सुनने तक को तैयार नहीं है उसके लिए एक मिनट भी लगाने को तैयार नहीं है उससे अत्यंत द्वेष है उनको क्या ऐसी स्थिति हमारी किसी की नहीं रही होगी या हमें से अधिकांश या सबकी नहीं रही होगी एक संभावना कीजिए हमारी भी रही होगी कोई जन्म ऐसा हो सकता है लेकिन कितना भी भोग में जाए व्यक्ति भोगता रहे उस समय की जो सूचना है वो अंदर तो जा रही है संस्कार उसका पड़ रहा है जब सुख का संस्कार पड़ रहा है तो दुख का क्यों नहीं पड़ेगा अंग्रहित हो रहा है अंदर तब हम ये स्वीकार करते हैं कि संसार के प्रत्येक सुख में दुख भी है वो दुख भोग रहा है तो उस दुख के संस्कार क्यों नहीं पड़ेंगे उसके मन में ज्ञान तो जा रहा है दुनिया वाले भी कहते हैं संसार में बहुत दुख है लेकिन फिर भी वहीं फंसे हुए हैं तो दुख का ज्ञान तो हो रहा है उनको हम ये नहीं कह सकते कि ज्ञान नहीं हो रहा है पर वो जो ज्ञान आया उसका वो उपयोग नहीं कर रहा है वो विश्लेषण नहीं कर रहा है कि सुख भी आया दुख भी आया ठीक है या नहीं है मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए दोनों आ रहे हैं लेकिन सुख पे ध्यान केंद्रित है और दुख पे ध्यान नहीं रख रहा है वो और रख भी रहा है तो छोड़ रहा है उसको सुख पे ही तात्कालिक सुख ही चाहिए ये चिंतन और मनन की कमी मात्रा चिंतन मनन करने में प्रयत्न रहता है श्रम लगता है भारीपन लग जाता है दूसरे कामों से हटना होता है वो वो कर नहीं सकता है या कर नहीं पा रहा है लेकिन एक दिन ये दुख इतने उभरेंगे उसके मन में उसको विवश करेंगे नहीं बहुत हो गया बिना किसी दूसरे के उपदेश के नहीं चाहिए अब मुझे ये कितने व्यक्ति होते हैं जो अपराध जगत में रहते हैं उत्सुकता से जाते हैं बड़ा मेरा अधिकार होगा लोग मेरी मानेंगे मेरा डर होगा मेरा आदेश चलेगा मेरे को अभिवादन करेंगे मेरे पास गाड़ियां होंगी ये बड़ा उससे चला जाता है अपराध जगत में ये किया वो किया करने के बाद में कुछ हत्याएं कर दी चोरी लूटपाट कर दी केस हो गए कभी जेल में गया अब भागे भागे फिर रहा है बचा बचा फिर रहा है वारंट निकल गए जिन कष्टों को उसने कभी सोचा नहीं था और उधर चला गया अब उसको कष्ट आ रहे हैं अब कष्ट भी आ रहे हैं लेकिन निकल नहीं सकता वहीं चलता चला जा रहा है लेकिन उस दलदल में भी जिसमें कहा जा सकता है कहा जाता है कि उसमें से कोई निकल नहीं सकता उसमें से भी लोग निकलते हैं परेशान होते होते दबाव होते होते एक सीमा आ जाती कि नहीं अब मुझे नहीं चाहिए भले ही मेरा जीवन चला जाए मैं इसमें नहीं रहूंगा मैं इस तरह किसी की जान नहीं लूंगा मैं यूं हर किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं करूंगा का वो तो जहां भोगों को भोगने से हमारा राग बढ़ रहा है ये एक प्रक्रिया है वास्तविकता लेकिन साथ में विचार भी होता है और इसको दूसरे ढंग से भी देखिए कि ये जो हमें छोटे सुख मिलने पर उसमें अरुचि हो जाती है फिर बड़ा सुख चाहिए इसे एक नकारात्मक दृष्टि से न देखते हुए परमात्मा की व्यवस्था की दृष्टि से भी देखिए कि हमें और ऊंची प्रगति करनी है हमें और ऊपर बढ़ाना है इसलिए निचला सुख अब नहीं मिलेगा वो आकर्षक नहीं बनेगा हमें और ऊपर जाना है और ऊपर बढ़ना है और अधिक सुख चाहिए और अधिक सुख चाहिए और अच्छा सुख चाहिए और निर्बाध सुख चाहिए ये जो दिशा पकड़ा रखी है ये चलती रहेगी इंद्रिया सुख अनुभव नहीं करेंगी मन सुख अनुभव नहीं करेगा भोगों को भोगते भोगते ये किसने व्यवस्था की है ये परमात्मा की व्यवस्था जिसे आप राग बढ़ना कह रहे हैं वो उससे ऊंचे सुख की चाह है या उसे और ऊंचे सुख की चाह नहीं करनी चाहिए क्या उच्च सुख की चाह नहीं करनी चाहिए क्या दुख रहित सुख की चाह नहीं करनी चाहिए करनी चाहिए इसी दिशा में तो बढ़ा रहा है ईश्वर हमें इसी दिशा में बढ़ा रहा है और ज्ञान के लिए भी व्यवस्थाएं कर रखी है हमारा कर्तृत्व वहां केवल इतना है कि हम उस ज्ञान को समझ सकें विवेचन कर लें और निष्कर्ष निकालें और चल पड़े उस तरह यही तो हम करते हैं बाकी तो सूचनाएं हमारे को मिल ही रही है इंद्रियों से सुख और दुख की इसको और प्रत्यक्ष की दृष्टि से देखिए इसी एक भोग को ले लीजिए आप अपने ऊपर प्रयोग कर सकते हैं और दूसरे भी जो कर रहे हैं उन पे भी देख सकते हैं उन भोगों को भोगते भोगते भोगते एक स्थिति उसकी ऐसी आ जाती है कि आप वो नहीं भोग सकता छूट जाएगा उसका अग्नि में घी डालने से अग्नि बढ़ती है ये ठीक है लेकिन यदि आप बाल्टी भर करके घी अग्नि पर डाल दो अग्नि थोड़ी हो तो अग्नि बढ़ेगी बुझ जाएगी उसी समय जितनी अग्नि है उसमें एक मात्रा में घी डाला जाए तो वो बढ़ती जाएगी लेकिन अधिक घी डाला जाए बुझ जाएगी ये भी तो तथ्य है अति जहां करेंगे वहां नियंत्रण आएगा परमात्मा कर्म की स्वतंत्रता देता है लेकिन उसने नियंत्रण भी बहुत रख रखे एक सीमा से ज्यादा नहीं भटकने देता है एक सीमा से ज्यादा अधिक पाप नहीं करने देता है बहुत छोटा मनुष्य जीवन जीवन है हमें भले ही लगता हो कितने पाप कर रहे हैं लेकिन बहुत छोटा जीवन है रोक देगा उसके बाद अन्य शरीर मिल जाएंगे और इस जन्म में आप किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए बचपन से युवावस्था और युवावस्था से फिर प्रौढ़ और वृद्धावस्था जिनको आप भोगी कह रहे हैं युवावस्था में या जिनको आप 20-25 साल पहले युवावस्था में भोगी मानते थे 25-50 साल बाद में 40 साल बाद में उनकी स्थिति देखिए उनको कुछ भोगों के प्रति राग में कमी है या नहीं उनके भी छोड़ दीजिए जो भी वानप्रस्थ में बैठे वो अपनी युवावस्था को देखें कि क्या उस समय ऐसा ही वैराग्य था इतना ही वैराग्य इतनी ही समझ थी या उस समय संसार के विषय बहुत आकर्षित करते थे और भोगते थे उनको वो ही जैसे लक्ष्य लगते थे तो शुरुआत तो कहीं होती है योगाभ्यास से होती है लेकिन योगाभ्यास की तरफ आएगा क्यों वो व्यक्ति कहीं तो वहां शुरुआत हुई है क्यों योग के लिए सत्संग के लिए प्रवचन के लिए वो आएगा कहीं तो बीज उगा है अपने आप भी होता है और कोई बताता है तो बताने पर भी वो लोग आते हैं जिनकी कुछ भूमिका बन चुकी होती है अपने आप संसार के भोगों को भोगते हुए जो अब परेशान है निकल सकते नहीं है रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है और ऐसे में कोई आके कहता है कि भाई ऐसा ऐसा है मैंने ऐसा किया और अच्छा हुआ ये एक रास्ता है जीवन जीने का ऋषियों ने ये बताया क्यों नहीं सौ में से सौ व्यक्ति ऐसा बताने पर इधर आ जाते हैं उनकी सबकी अपनी अपनी पृष्ठभूमि होती है एक आधार बन चुका होता है एक चिंतन चला हुआ होता है उनका पेड़ पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं एक फल को थोड़ा सा हाथ लगाया टूट के आ जाता है पेड़ को थोड़ा सा यूं हिलाया एकदम टपक पड़ता है तो हमारी शक्ति थी कि आम टूट करके आ गया फल टूट करके आ गया दूसरे फलों को भी तो देखो उसको इतना हिलाने पर भी टूट नहीं रहा है पकड़ा और खींच रहे तो भी नहीं टूट रहा है जोर लग रहा है हमारे ग्रहण करने से फल निकल करके आता है ठीक है कुछ फल तो ऐसे होते हैं शहतूत या कोई है कि बस उंगली लगाई फालसा है एकदम टपक पड़ते हैं पके पड़े हैं बिल्कुल और हम ये सोचें कि हमने उपदेश दिया और इसलिए वो आ गए सारा श्रेय स्वयं ले लें ये भी एक तरह का अज्ञान है क्योंकि हमारे उपदेश से आने होते तो सारे आ जाते वो ही एक कारण होता हम भी निमित्त बनते हैं उपदेश भी निमित्त बनता है लेकिन मात्र वो ही नहीं होता है वो एक छोटा सा कारण है उससे बड़ा कारण उस व्यक्ति के अंदर है खुद के जो भोगते विचारते वो तैयार हो चुका है पक चुका है कोई एकदम आ जाता है एक प्रवचन सुना एक वाक्य सुना और एकदम जीवन बदल जाता है वो खुद पका हुआ था कोई दो साल बाद आता है कोई दस साल बाद आता है और नहीं लेकिन आ जाता है दस साल बाद क्यों ऐसा होता है उनकी सबकी अपनी अलग अलग स्थिति थी और वो स्थिति कैसे बनी थी उस भोगते हुए तो संसार में रहते हुए तो बनी थी और उन्होंने कोई ऐसा प्रयोजन लक्ष्य नहीं बनाया था कि मैं योग की तरफ जाऊं और अध्यात्म की तरफ जाऊं वो तो सामान्य पशु व जीवन जी रहे थे भोगों को भोगने में लगे थे लेकिन फिर भी समझ में आने लगती हैं बातें ये ज्ञान उत्पन्न होता है संस्कार अंदर बनते जाते हैं और विचार करते करते करते उस तरफ वो बढ़ चुका होता है और फिर कोई आता है और थोड़ा सा सहारा देता है और वो उधर चला जाता है तो ये व्यवस्था किसने कर रखी है आत्मा का स्वभाव भी है वो सर्वश्रेष्ठ सुख ही चाहता है लेकिन उसमें परमात्मा की बहुत बड़ी सहायता है और यदि हम ये कहें कि संसार के भोग और आकर्षण इतने हैं कि उसमें फंसा तो फंसा ही रहेगा हम दोष अपना मानते हैं कि हमारी अज्ञानता है लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें तो ये परमात्मा पे दोष दिया जा रहा है कि परमात्मा ने ये संसार ऐसा बनाया है कि आत्मा उससे निकल नहीं सकता फंसा है फंस ही जाएगा कभी नहीं निकलेगा वहां से ये सिद्धांत ही गलत है कि भोग में जा रहा है जा रहा है तो वहीं फंसा रहेगा अंत तक ऐसा नहीं भविष्य में मुक्ति में जाएगा नहीं जाएगा फिर भी शंका हो लेकिन हम ये भी तो कहते हैं कि पीछे न जाने कितनी बार हम मुक्ति में जा चुके हैं क्योंकि अनादिकाल से अनंत न जाने कब से कभी से नहीं अनादिकाल से चला आ रहा है तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आत्मा वहां मुक्ति में आज तक न गया हो जितने भी बंधन में वो भी असंख्य बार मुक्ति में जा चुके और असंख्य बार मुक्ति में जाएंगे तो जब वो आत्मा पहले का भी मुक्ति में गया है तो आज क्यों नहीं जा सकता कितना भी भोग में फंसा हुआ परमात्मा की व्यवस्था तो तभी सर्वोत्तम मानी जा सकती है कि वो जिस लक्ष्य के लिए उसने संसार बनाया है उस तक वो हमें पहुंचा दे वो पहुंचाती है और इसीलिए ऋषियों ने कहा कि भोगाप वर्गार्थम दृश्यम ये संसार भोग और अपवर्ग दोनों के लिए है परमात्मा ने अपवर्ग के लिए बनाया है इसे और इतने सर्वज्ञ और सर्वोत्कृष्ट परमात्मा के द्वारा ऐसी रचना बनाई गई हो जो अपवर्ग के लिए हो और वो अपवर्ग तक ना पहुंचा सके यह असंभव अपवर्ग तक पहुंचाएगी उसके द्वारा जो भोग दिया जा रहा है वो भोग भी ऐसा है जो अपवर्ग तक पहुंचाने वाला है वो मात्र भोग के लिए नहीं है भोग कि हम भोगाप वर्गार्थम दृश्यम कि दो अलग अलग प्रयोजन है या तो भोग भोगते रहो या अपवर्ग में चले जाओ दोनों में कोई संबंध ना हो संबंध है भोग भोगते हुए हम अपवर्ग की तरफ जाएंगे व्यवस्था ऐसी कर्मों के अनुसार फल मिलेगा और वो फल हमें मुक्ति की तरफ ले जाने वाला होता है हमें सुधारने वाला होता है और सारी प्रक्रिया इसीलिए चल रही है परमात्मा का लक्ष्य ही यही है परमात्मा इस लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होता उसकी हर व्यवस्था हमें मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाली है देरी है तो हमारे अपने प्रयत्न में विचार में देरी है लेकिन हम कितना भी विचार को त्यागें हमें विचारना पड़ेगा पड़ता है अध्यात्म में आकर के भी कितना भी राग हो पिछला छूटी नहीं रहा हो विचार बार बार आते हो तो भी एक दिन हम विवश हो जाएंगे नहीं छोड़ना और छोड़ देंगे कितने ऐसे संस्कार हैं जिसे हम पहले समझते थे कि ये तो हट ही नहीं सकता हट ही नहीं रहा है कितना प्रयत्न कर लिया शास्त्र पढ़ लिए उपदेश सुन लिए सब कुछ कर लिया लेकिन ये हट ही नहीं रहा खूब प्रयत्न कर लिया खूब प्रार्थना कर ली हट ही नहीं रहा है ऐसा लगता है जैसे हट ही नहीं सकता दूसरों ने हटाया होगा उनकी सामर्थ्य मेरे से तो ये हट नहीं सकता इस स्थिति में जो बातें थीं वो भी जब हट जाती है हटती है तो जब हमारी हटती है तो दूसरे की भी हटती है हट सकती है हटेंगी क्योंकि ज्ञान हमें सतत प्राप्त हो रहा है ज्ञान कर्म उपासना सतत चल रहे हैं ज्ञान सतत प्राप्त हो रहा है सूचना सतत जा रही है अंदर और हम विवश होंगे विचार करने के लिए किसी को व्यापार में घाटा हो रहा हो दुकान में घाटा हो रहा हो लापरवाही कर रहा हो घाटा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा एक दिन वो विवश होगा नहीं अब तो सोचना चाहिए थोड़ा घाटा हुआ भोगों में पड़ा हुआ है ध्यान नहीं दे रहा कोई बात नहीं लापरवाह है एक व्यक्ति से संबंध बिगड़ रहा है लापरवाह है दूसरे से बिगड़ रहा है लापरवाह है ध्यान नहीं दे रहा है गर्व में है कोई बात नहीं मेरे क्या फर्क पड़ता है एक दो दस बीस सारे विपरीत होने लगेंगे एक दिन विवश होना पड़ेगा सोचता है व्यक्ति सोचना पड़ेगा इस दृष्टि से हम देखें तो परमात्मा राग का विनाशक है क्या आप ये कहेंगे कि परमात्मा राग का वर्धक है परमात्मा को यह संबोधन दे सकते हैं क्या तो राग को बढ़ाने वाला है उसने राग को बढ़ाने के लिए संसार बनाया है ये इंद्रियां राग को बढ़ाने के लिए बनाई है क्या ऐसा कह सकते हैं यदि नहीं कह सकते तो परमात्मा राग विनाशक ही है और भोगों की व्यवस्था हमें अंततः वैराग्य की तरफ ही ले जाने के लिए और इसलिए उसने उनमें ऐसा दुख आदि जो हमें अनुभव होते हैं वो डाला हुआ है लेकिन है प्रच्छन्न जो खोजेगा जो जानेगा विचारेगा उसको पकड़ में आएगा पूरा वो उससे निकल पाएगा नहीं तो नहीं निकलेगा लेकिन कभी ना कभी वो समझेगा ये व्यवस्था जी ठीक है तो वो बचपन से चाय पी रहा है और मृत्यु तक चाय पी रहा है ठीक है और वो छोड़ नहीं रहा है तो वहां तक समझ में नहीं आया क्या आप जीवन को इतना ही मानते हैं क्या ये जानने समझने विवेक की प्रक्रिया मात्र एक ही जीवन तक है कि उस एक जीवन के आधार पर निर्णय कर लेंगे कि मृत्यु तक इसका ये राग नहीं छूटा इसलिए ये सिद्ध होता है कि जो भोगों में पड़ा रहता है वो उससे कभी नहीं निकल सकता अनंत काल तक नहीं निकल सकता क्या आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं निकालना चाहिए प्रतिज्ञा नहीं है आप रख रहे हैं उस बात को आपने तर्क युक्ति रखी कि मृत्यु तक वो चाय पी रहा है अर्थात भोगों को भोगते भोगते भी वो उससे ऊपर नहीं उठाए यही तो सिद्ध करना है इससे भी ये निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ आत्माएं ऐसी हो सकती हैं जो अनंत काल तक भोगों में ही रहें कभी मुक्ति में नहीं जाएंगी क्या ये आपको स्वीकार्य है इसलिए आपको स्वीकार्य है या नहीं है नहीं है अर्थात इस पे आपका निश्चय है कि वो आत्मा कभी ना कभी तो मुक्ति में जाएगी तो कभी ना कभी मुक्ति में कैसे जाएगी क्या बिना वैराग्य के जाएगी राग को छोड़ने पे ही जाएगी इसमें भी आप अटल सक मानेंगे कि ठीक बात है अब राग कैसे छूटेगा उसका विचार करेगा ना वो विचार पर विवश होगा ना वो कभी कभी ना कभी तो उसकी परिपक्व अवस्था आएगी कि कोई फिर कोई उपदेश मिलेगा तो उसका प्ररोह हो जाएगा न मलिन चेतसी उपदेश बीज प्ररोह अजवत लेकिन अगर कुछ शुद्ध चित्त है तो उपदेश के बीच का प्ररोह हो जाएगा एकदम वो वृक्ष बन जाएगा वट बन जाएगा होगा तो ये तर्क ही नहीं बनता अगर आप उसको तर्क को देखो तो उसकी पृष्ठभूमि आपकी ये काम कर रही है कि जैसे बस एक ही जन्म है उसके आगे का नहीं है आपसे पूछूं क्या आगे कभी सदा विचार पीता रहेगा आपसे पूछता अगले सब जन्मों में अनंत काल तक वो चाय पीता रहेगा हाँ या ना नहीं कह सकते ना छोड़ेगा कभी ना बस यही मैं कह रहा हूं मैंने ऐसा नहीं कहा कि इसी मनुष्य जन्म में वो रागों से दूर हो जाएगा ऐसा तो नहीं कहा ना और एक आत्मा यदि एक साल बाद सीख लेता है कोई दस साल बाद कोई पचास साल बाद में सीख लेता है तो दूसरा आत्मा पचास जन्मों में क्यों नहीं सीख सकता पांच लाख जन्मों में क्यों नहीं सीख सकता सीख सकते हैं क्योंकि आत्मा के सबकी सामर्थ्य समान है सीख सकते हैं जान सकते हैं होगा ये होगा ये ऋषियों का जो ये कथन है कि राग इसमें जाने से भोग में जाने से राग बढ़ता जाता है वो उस श्रृंखला को शीघ्र तोड़ना चाहते हैं कि आप जिस श्रृंखला में जा रहे हो कि मैं और सुख प्राप्त करूं और बड़ा भोग प्राप्त करूं हो जाएगा तो आप एक दो दस सौ लाख सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं और सुख सुख सुख सुख आपको अंत में जाकर के ये होने वाला है रास्ता बंद मिलेगा वहां इससे आगे आप बढ़ नहीं सकते इससे आगे के सुख सुविधाएं आपको मिलने वाली नहीं है वहां संसार का चक्रवर्ती सम्राट बन जाए सारे सुख भोग मिल जाए तो भी वहां भी आपको यही अनुभव में आएगा इसको बताने के लिए वो कह रहे हैं कि आप जिस इस मार्ग पे जा रहे हो वहां आगे जाके रास्ता बंद है आप भी इसी निष्कर्ष पे पहुंचोगे अब उस अनुभव को हम इस लाख बार करोड़ बार के भोग की यात्रा में दस पचास सौ हजार में ही अगर सीख लेते हैं तो आगे तक जो अंत में जाकर के हमें सीख आएगी वो, वो पहले मिल जाती है पता लग गया ये रास्ता आगे जाके बंद होने वाला है आगे कुछ रास्ता नहीं है और फिर लौट के आना होगा तो यहीं जिस दिन पता लग गया उसी दिन हम इधर निकल गए तो हमारे लिए सुखद है उसके लिए कहा जा रहा है रास्ता अंत तक नहीं जाएगा अभी उसको लग रहा है नहीं आगे बढ़ रहा हूं कोई यहां सीख लेता है कोई वहां सीख लेता है कोई वहां सीख लेता है ऋषियों का जो वचन है उसका ये मतलब नहीं है कि राग में रहने से भोग में रहने से कभी विवेक नहीं होगा उसका ये मतलब नहीं है उसका ये मतलब है कि आप इस रास्ते पे चलते चले जाओगे तो बहुत दूर जाकर के आप निष्कर्ष पे पहुंचोगे वैराग्य तो आएगा आपको तो इस रास्ते पे जाओगे तो आपके राग की शांति नहीं होने वाली है वो अभी बता रहे हैं आप अभी यहीं से अलग हो जाओ सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते अभी अलग हो लो दूसरी तरफ आ जाओ इस सीढ़ियों में कुछ नहीं मिलने वाला है ऊपर इतना मात्र है उस उस सिद्धांत का इतने स्पष्ट लिखे हुए होते हुए भी ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि भोग भोगते भोगते तो वहीं फंसता जाएगा फंसता जाएगा तो भोग तो भोग ही रहा है तो पीछे तो आ ही नहीं सकता व्यक्ति कभी तो जो मैंने पहले कहा हम भी भोगते थे दूसरे भी भोगते हैं आगे भी भोगेंगे अगर भोग भोगने से और बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो आज हम यहां नहीं बैठे होते और जो ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं ना भोगात राग शांति वो भी एक सूत्र को कहने वाले नहीं बन पाते अगर भोग में रहते रहते भोग में ही पड़े रहा जाए तो रह ही नहीं सकता व्यक्ति इधर तो आएगा जी ठीक है एक दृष्टि है एक सो, अलग तरह से आपको इसलिए थोड़ा विचित्र भी लग रहा होगा उल्टा भी लग रहा होगा शास्त्र के विपरीत लेकिन मुझे यह शास्त्र के विपरीत बिल्कुल नहीं लग रहा है बल्कि ये ज्यादा उस शास्त्र को अच्छी तरह से समझने की बात है उनका तात्पर्य वास्तविक क्या है तो विचार तो करेगा ही क्या आप ये कह सकते हो कि वो विचार नहीं करेगा ऐसा किस शास्त्र में लिखा या ऐसा किसका अनुभव विचार तो करेगा मजबूर है करेगा परमात्मा विवश करेगा उसको ऐसा हो नहीं सकता कि वो विचार ना करे आत्मा का अपना स्वभाव भी है कितनी देर नाक बंद रखेगा और बड़े बड़े दुख आते जाएंगे और बड़े बड़े दुख आते जाएंगे आएंगे ना तो बड़े दुख वो कौन तो बड़े दुख आएंगे ठीक है अब ये अपनी बुद्धि पर है कि हम छोटे दुख को देख करके ही अलग हो जाएं या बड़े दुख आए तब हमारे को नींद टूटे हमारी लेकिन होगी ना वो भोग में रहते हुए तो हो रही है ना भले ही होगा कोई बात नहीं ये थोड़ा ना प्रतीक्षा है भले ही कई जन्मों के बाद होगा लेकिन भोग में रहते हुए भी राग की समाप्ति होगी या नहीं होगी मूल सिद्धांत पे बात कीजिए आप स्वीकार कर रहे हैं अगले अनेक जन्मों में होगी आपने स्वीकार कर लिया भले ही वहां तक आएगा होगी तो भोग में रहते हुए ही होगी ना ये पानी है भोग भोग में रहते हुए होगी अब किसी को घुटने तक पानी आ गया और पता है कि पानी बढ़ रहा है और मेरे लिए हानिकारक है तो भी अलग हो सकता है उस पानी से और यहां तक आए तो भी हो सकता है लेकिन हुआ तो भोग में से ही है ना आपकी प्रतिज्ञा ये थी कि शास्त्रकारों का तात्पर्य यह है कि भोग में रहते रहते तो और फंसता जाएगा निकलेगा नहीं कभी ये शास्त्र को जो समझा जाता है जिसके कारण से आपने ये प्रश्न किया उस प्रतिज्ञा से आप स्वयं भी विमुख हो चुके हैं आपने स्वयं ने स्वीकार कर लिया कि यहां तक आएगा तो हटेगा तो वो भोग आ गया ना यहां तक उसमें दुख आ गया बड़े दुख आ गए तो आपने खुद ने स्वीकार कर लिया इस बात को वो प्रतिज्ञा नहीं रही अब आपकी इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भोग में रहते रहते राग की समाप्ति नहीं होगी होगी ये एक स्तर पर मोटा मोटा शास्त्रों को समझाए तो हम यही कहेंगे कि राग भोग में जाने से राग बढ़ता है बढ़ता है उसका भी मना कहा है लेकिन उस प्रक्रिया को समझो परमात्मा का जो व्यवस्था है उसको देखो हाँ आप इतना देखेंगे तो जैसे सांसारिक व्यक्ति मनुष्य एक संसार के छोटे स्तर पर देखता है हम भी छोटे स्तर पर ही देख रहे हैं उसको जैसे संसार का व्यक्ति दुख नहीं देख रहा केवल स्थूल सुखों को देख रहा है और उसी में लगा हुआ है दूर तक नहीं देख रहा है ना ऐसे ही हम भी देख रहे हैं कि देखो भोग में भोगते हैं तो वहीं फंसा हुआ रहेगा हम आ इधर गए हैं दूर का देख के कि इसमें दुख भी होता है लेकिन अब ये जो सिद्धांत देख रहे हैं कि भोग में रहे तो और फंसते जाएंगे और वहां से निकल नहीं पाएंगे राग बढ़ता जाएगा राग बढ़ता जाएगा ये हमारी भी संकुचित दृष्टि है हम अपने को भी देखें हम कैसे आ गए और वो दूसरा भी आएगा विराग होगा ऐसा हो ही नहीं सकता ना भाई हम उसको व्यापकता से देखें ना इस बात को हम अपने जीवन को भी देख लें लेकिन हम उतना व्यापक नहीं सोच पाते हम बने बस ये समझ लिया राग भोगों में जाएंगे तो राग बढ़ता जाएगा भोगों में जाएंगे तो राग बढ़ता जाएगा पूरी तरह समझा नहीं एक अंश में देखा बस अब उसका परिणति क्या होती है अब देखो साधना पद्धति कैसे बदल जाती है कि भोग में जाएंगे तो राग बढ़ेगा इसलिए भोग छोड़ो इसकी परिणति यही आएगी ना यही निष्कर्ष निकलेगा भोगों को छोड़ो अब भोगों को भोगते हुए निर्णय तो निकाले नहीं है निष्कर्ष तो निकाला नहीं है बस केवल यह है कि यहां भोग की शांति नहीं होगी इसलिए इधर आ जाओ अब वो छोड़ दिए भोग अब बार बार समस्या हो रही है कि फिर फिर उधर मन जा रहा है बार बार व्रत टूट रहा है और वर्षों लगा रहा है और सोच रहा है कि ये तो हो ही नहीं पा रहा है मेरे से यदि ये निष्कर्ष निकल गया था कि यहां शांति नहीं है भोगों से राग की शांति नहीं राग बढ़ता जाएगा अगर ये समझ में आ गया होता तो इधर आने के बाद में उसकी स्मृति नहीं आती अब ये मूल में भूल भूल है बहुत बड़ी भूल है और व्यक्ति दशकों तक या जीवनों तक इसी में भटकता रहता है ये समझते हुए भी कि मैं ठीक मार्ग पर चल रहा हूं बात ठीक है भोगों से हटना है लेकिन मूल में भूल है और यही समस्या कर फिर वो स्थूल उपाय करता रहता है इस आलंबन से बचो ऐसे बचो इस एकांत में जाओ आंख को बंद करके रहो ये बहुत सारे स्थूल आलंबनों पे जाता रहता है ये भी उपाय हैं एक स्तर पर लेकिन मूल में भूल रखते हुए अगर ये करेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा कि भोगों में दुख है वो चलता ही रहेगा वो यही कहेगा कि हमें तो भोगों में दुख दिखाई नहीं देते हमें तो चार प्रकार के दुख दिखाई नहीं देते अनुभव में नहीं आते ये ही कहता रहेगा दशकों तक और इसके बीसियों सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे प्रत्यक्ष उदाहरण मिलेंगे यदि शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके अनुमान करके चिंतन करके हमें पूरा समझ में बैठ गया कि ये दुखदायी है और हम हट गए हैं तब तो हमारे लिए ये मार्ग ठीक है इतने से हो जाएगा लेकिन यदि हम फिर भी नहीं हट पा रहे हैं तो अच्छा है कि हम प्रत्यक्ष का सहारा लें शब्द और अनुमान से काम नहीं बन पा रहा है हमारा प्रत्यक्ष का सहारा लें और उन भोगों में फिर जाकर के देख लें कोई दोष नहीं है इसमें जो अध्यात्म का उल्टा रूप हम बना लेते हैं गलत समझ लेते हैं शास्त्रों के ऋषियों के तात्पर्य को कि भोगों की तरफ गया तो मतलब तो ये गलत एक गृहस्थाश्रम बनाया है परमात्मा ने व्यवस्था दी है वो भी तो भोगों की तरफ जा रहे हैं किस लिए जानने के लिए समझने के लिए समझ बना करके भोगों में जाएगा तो भोग से निकल के आएगा ही और जिसने इस काम को नहीं किया है भोगों में रहते हुए समझ नहीं बनाई है वो बहुत वर्षों तक पीड़ित होता रहेगा कभी भी कर ले तो कर ले नहीं तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी उससे नहीं निकल पाएगा यदि इतनी बुद्धि सामर्थ्य है कि हम बिना भोगे भी निकल सकते हैं तब तो ये ठीक है नहीं तो वही रास्ता ठीक है वो औषधि है वो चिकित्सा है महर्षि दयानंद उसको चिकित्सा कहते हैं गृहस्थ को वो निंदित नहीं है मैंने एक बार दर्शन योग महाविद्यालय में इस विषय को लेकर के प्रवचन दिया था मेरी समझ ये है मैं उसको आज भी गलत नहीं मानता वो ऋषियों के अनुकूल है वो वेद के अनुकूल है तो उसके बाद में काफी आलोचना हुई उस बात की कि जैसे मैं गृहस्थ की तरफ प्रेरित कर रहा हूं मैं भोगों की तरफ प्रेरित कर रहा हूं दृष्टि अलग है मैं जिस बात को कह रहा हूं समझ करके मैं अपनी तरफ से बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं मेरा तो अनुभव यही है दूसरों को भी देखा अपने को भी देखा और ये शास्त्र के किसी शास्त्र के विपरीत नहीं है ईश्वर के वेद के विपरीत नहीं है अनुकूल है हम जब मिथ्या अध्यात्म में चले जाते हैं या अध्यात्म की कुछ बातों को समझ नहीं पाते और ऊपर ऊपर से देखते रहते हैं तो वो अज्ञान अविद्या है तो निष्कर्ष हमारे गलत होंगे हमारी दृष्टि गलत होगी और ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तियों के जीवन में समस्याएं मिलेंगी प्रकट हो जाए प्रकट हो उनका व्यवहार बताएगा कि समस्या से ग्रस्त हैं या नहीं है इतने वर्ष इतने दशक चलने के बाद भी क्या स्थिति है ये व्यवहार बताएगा कि रास्ता ठीक था या नहीं था वही कसौटी अंतिम तो भोगों से वैराग्य तो भोगों में ही होगा प्राचीन ऋषियों ने भी भोगों में जो चार प्रकार के दुख बताए वो भोगों को भोगते हुए बताए हैं स्वयं भोगते हुए और दूसरों को भोगता हुआ देखते हुए भोग से ही ये निष्कर्ष निकला है जन्म से ही ये निष्कर्ष निकला है इंद्रियों का उपयोग करते हुए ये निकला है इसलिए परमात्मा की व्यवस्था को अगर हम इस दृष्टि से देखें जो मैंने आपके सामने अभी रखी वो राग विनाशक है और भोगों में जाने से भी राग समाप्त तो होगा आप एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखा सकते ऐसे आत्मा जो भोगों में पड़ी है और उससे न निकली हो जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि पीछे की आत्मा हर आत्मा मुक्ति में गई है तो भोगों से वो निकली है भोगों में रहते हुए वहां से निकली है ऐसे ही आगे भी होगा ये तो एक छोटी सी भाग भाग है कि भाई भोगों में जाते हैं ऊपर ऊपर जा रहे हैं जल्दी समझ जाओ कि इधर जाने पे निष्कर्ष आप अभी निकाल लो आगे तो निकालेगा ही वो किसी के न बताने पर भी निकालेगा यही निष्कर्ष और कितने मनुष्य निकालते हैं जिन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त नहीं किया भारतीय दर्शन अध्यात्म को नहीं पाया पाश्चात्य लोग अलग ढंग से जी रहे हैं वहां भी वो निष्कर्ष निकाल लेते हैं यही निष्कर्ष निकाल लेते हैं समझदार हो बुद्धिमान हो इतना ही रखता हूं बहुत लंबा समय हो गया आपका ओम शाह